उस दिन जब उनकी ज़बानें और उनके हाथ और उनके पाँव उनके अपने ही खिलाफ गवाही देंगे जो काम भी वो किया करते थे